और सीधा रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है और बाज रास्ते टेढ़े भी हैं अगर वो चाहता तो तुम सभी को हिदायत अता फरमाता